बोलो सियावर हरिओम थोड़ा सा हरे ओम हरे ओम वायु थोड़ा सा हरे ओम कर्पूर गौरम विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् करुणा Jaya Jaya né? संकट मंगल हैं आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं जगदम्बा भगवानी आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें और ज्ञान के शिखर तक आपको ले जाए जैसे हम लोग हनुमान चालीसा में हनुमान जी का जब जयकार करते हैं जय घोष करते हैं तो सर्वप्रथम हम यही मन में लाते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हे हनुमान जी आप तो ज्ञान के सागर हैं गुणों के सागर हैं जिस समय कोई भी भक्त किसी ज्ञान की निधि की जयकार करता है ज्ञान का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसकी हम वंदना करते हैं तभी आप ज्ञान के पुजारी बन जाते हैं आप जिज्ञासु बन जाते हैं ज्ञान के पथ के पथिक बन जाते हैं और तभी आपको जीवन में ज्ञान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है हमारे मन में जैसे अनेकों संसार की कामनाएं होती हैं जब कामना होती है तब उधर प्रवृत्ति होती है उधर ही कर्म होता है और वही चीज प्राप्त होती है जिस चीज की हमारे मन के अंदर उत्कंठा विद्यमान है उसी तरीके से ज्ञान की भी उत्कंठा होनी चाहिए ये बात अगर दिल में छू जाए कि अगर कोई ज्ञानवान है तो जीवन बन जाता है उसका तभी व्यक्ति ज्ञान का पुजारी होता है तभी किसी ज्ञान की निधि की वंदना करता है जयघोष करता और यहाँ पे हमारे हनुमान जी तो ज्ञान के सागर हैं यही हनुमान जी को देखने की गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बताई हुई प्रामाणिक दृष्टि होती है एक तरफ से हम लोग यहाँ पे ज्ञान के पथ के पथित हैं हम लोग ज्ञान के पुजारी हैं और नवरात्रे भी जो है वो भी ज्ञान की प्राप्ति का अनुष्ठान होता है आपको पता है कि नवरात्रों में ये जो नौ दिन के अनुष्ठान होते हैं हमारी तीन जगदम्बा की आदि शक्ति के तीन रूप हैं एक सरस्वती मैया है एक लक्ष्मी जी है और एक दुर्गा जी तो ये नवरात्रि के नौ दिन इन तीन की उपासना तीन दिन दिन की होती है प्रारंभ हम करते हैं अनेकों प्रकार का कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं लक्ष्मी की प्राप्ति भी करते हैं समर्थ बनते हैं सक्षम बनते हैं प्रबुद्ध बनते हैं और अंतिम तीन दिन जो है वह दुर्गा जी की उपासना होती है जो विशेष रूप से बंगाल में तो बहुत ही प्रसिद्ध है हाँ, दुर्गा पूजा के वहां अंतिम दिन तो बंगाल में पूरा जो है भक्ति की लहर होती है वहां पे हम लोग ये माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माता जी आप विनाश करने में बड़ी दक्ष हैं समर्थ हैं मर हमारे वहां पर भी आके एक राक्षस बैठा हुआ है उस राक्षस को आप भी माता जी दूर कर दीजिए हमारे अज्ञान और मोह को दूर कर दीजिए देखिए नवरात्रों में प्रारंभ करते हैं हम लोग सरस्वती मैया की उपासना से तो ज्ञान के ही पथिक तो होते हैं और अंततः ज्ञान के नाश के लिए कोशिश करते हैं और विजयदशमी के दिन रावण माना जाता है रावण कौन है हमारा ही अभिमान रावण महाअभिमानी जब जब गोस्वामी जी रावण का परिचय देते हैं तो ये वाक्य नहीं बोलते रावण महाभिमान ये अभिमान ही तो मारता है हम लोगों को तो ये नौ दुर्गा नौ रात्रे जो होती हैं ये हम लोग के अंदर बैठे हुए इस अभिमान रूपी रावण को खत्म करने का अनुष्ठान होता है वो भी ज्ञान का ही एक अनुष्ठान है तो यहाँ पर हम लोग की हनुमान चालीसा हो जाए नवदुर्गा दुर्गा हो जाए और कोई भी जो है साधन हो जाए गायत्री मंत्र हो जाए हम्म? धियो यो न प्रचोदया हे माता जी हमारी बुद्धि को जगाइए न धिया अस्माकम धिया यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हनुमान चालीसा में हम लोग हनुमान जी की ऐसी जयकार करते हुए उनको ज्ञान रूप सागर देख रहे हैं पिछले दो सत्रों में हमने इसके ऊपर अच्छा गहराई से चिंतन करने की कोशिश करी कि हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं गुण के सागर हैं इसका क्या आशय है तो रामायण के ही प्रसंगों से हम लोगों ने देखा कि ज्ञान के सागर है वो ज्ञान जो राम जी लक्ष्मण जी को अरण्य कांड में देते हैं वो सब हनुमान जी के पास और गुण जो विभीषण जी को रावण के वध के पूर्व बताते हैं कि लक्ष्मण ये गुण हो विभीषण ये गुण होने चाहिए इंसान और अगर आप हनुमान जी के व्यक्तित्व का चिंतन करते हैं शोध करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है वो विभीषण गीता नामक जो प्रसंग है उसमें जो जो गुण बताए हुए हैं सब हनुमान जी में कूट कूट के भरे इसीलिए निश्चित रूप से वो ज्ञान और गुण के सागर है तो ऐसे हनुमान जी को अपने मन में लाके उनकी यही एक विशिष्टता को वंदना करते हुए फिर हम लोग आगे चलते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक दो और छोटी छोटी बड़ी मजेदार चीजें हम बता दें हनुमान जी के बारे में अब ये मौका मिलता है इन चीजों में गहराई से रमने का है? हनुमान जी जो है उनका नाम हनुमान क्यों पड़ा था इसकी हमने आपको कथा सुनाई थी कि वाल्मीकि रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है कि ये बहुत छोटे थे हनुमान जी तो सूर्य देवता को देख के उसको फल समझा बाल समय हाँ, रवि क्यों तब तीन हूं लोग तो भयो दिया तो जाके उन्होंने उसको खा लिया तो चारों तरफ अंधकार हुआ हाहाकार हो गया तो उस समय जो है इंद्र देवता ने अपने वज्र का आघात करा और उनके मुंह से सूर्य देवता निकल आए दुनिया का अंधकार और ग्रहण खत्म हुआ और ये छोटे से बालक थे नीचे गिरे आके उनकी थोड़ी टूट गई थी और तब से क्योंकि बड़ी थोड़ी वाले हैं उसका थोड़ी को संस्कृत में हनु बोलते हैं तो बहुत विशेष हानु वाले हनुमान बड़ी थोड़ी वाले एक तो ये उनका नाम है इसमें जो है ना एक और कथा आती है हनुमान जी जिस समय पढ़ने के लिए इच्छुक हुए तो उस समय जो है ये तो बहुत जब छोटे थे तब की कहानी है सूर्य देवता के प्रति उनकी बचपन से ही बड़ा आकर्षण था तो उन्होंने यही मन में ठान रखा था कि हमको इन्हीं से ज्ञान लेना है हर व्यक्ति को हम लोगों के धर्म में सूर्य के उदय के समय अर्घ देना चाहिए जल चढ़ाना चाहिए प्रणाम करने चाहिए ये प्रकाश के कुंज से प्रेरणा लेनी चाहिए अपने जीवन को भी प्रकाशमय करने के लिए अकेले चलते हैं पूरे दुनिया के ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहे हनुमान जी के बहुत ही बचपन से ये इष्ट थे प्रेरक थे उन्होंने निश्चय करके रखा था कि सूर्य देवता से ही ज्ञान लेना है ये कैसा इनके अंदर ज्ञान है कि ऐसे उत्साह से उमंग से बड़े थके हुए बगैर सदैव सबके ऊपर आशीर्वाद बसाते रहे हैं हमको अगर गुरु चाहिए तो ऐसे चाहिए हनुमान जी ने हम लोगों को सबसे पहली शिक्षा ये दी कि देखो भैया तुमको ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए लेकिन गुरु कैसे होने चाहिए सूर्य देवता की तरह से प्रकाशवान देदीप्यमान और जो अपने ज्ञान को जीवन में जीते हो सूर्य देवता जो है वह जीते हैं गीता के चौथे अध्याय में आपको बताएं भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि अर्जुन हमने ये पहला ज्ञान जो है ना सबसे पहले सूर्य देवता को दिया गीता में भगवान कृष्ण भी सूर्य देवता को जो है बहुत ज्ञानवान बल्कि अपना पहला शिष्य बताते हैं परमात्मा पर ब्रह्म उन्होंने उनको ऐसा कोई ज्ञान दिया हुआ सूर्य देवता को कि पूरी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं तो हनुमान जी ने सोचा कि हमको इन्हीं से ज्ञान लेना है तो एक बार सूर्य का जो है ना एनकाउंटर हो चुका था पहले बचपन में लेकिन मैंने सुधरे नहीं लेकिन हमको ज्ञान के लिए चले इतने अच्छे लगते थे इतने आकर्षण लगता था उनको कि यही नहीं है कि सवेरे सवेरे उनकी वंदना करना प्रार्थना करना अर्घ्य देना जल देना गायत्री मंत्र से प्रणाम करना ये सब उनके अंदर था लेकिन उन्होंने बोला हमको ज्ञान इन्हीं से देना है तो पहुंच गए एक बार फिर से सूर्य देवता के पास पहुंचे बोला भगवान हमको आप शिष्य बना लो सूर्य देवता को सब पुरानी बातें याद की बोलते हैं तुम कहा तो बोला नहीं अब वो तो बचपन की बात थी भगवान आप तो विद्वान है ज्ञानवान है क्षमावान है अब तो हमको शिष्य बना तो बोला नहीं हो सकता बेटा हम बहुत बिजी आदमी हैं हम सतत जो है वहां हमारा रथ देखो घूमते रहते हैं चक्कर काटते रहते हैं कहाँ फुर्सत है नाम भले दुनिया संडे दे हमारा लेकिन हमको एक संडे नहीं मिलता जीवन में <laughs> तुम लोग संडे को मजा ले लेते हो छुट्टी मना लेते हो उस दिन लंबा सो लेते हो ऐसे ऐसे हमने महापुरुष यही देखे हुए हैं वो बोलते हैं गुरु जी संडे के दिन हमको कौन मत करना कोई काम मत बताना हम बोला चलो बारह बजे तक सो लोगे बोलते नहीं अब आपसे क्या छुपाना संडे को मैं नहाते ही नहीं <laughs> बोलते हम ऐसे पड़े रहते हैं पता नहीं हमारे अंदर की जो थकावट है उसे हम बाहर ही नहीं जाते अब नहाए धोए नहीं तो कहाँ जाएंगे दिन भर घर में ऐसे ही हम मटर गस्ती करते हैं तो संडे को हम लोग तो मजा ले लेते हैं लेकिन सूर्य देवता का कोई संडे नहीं तो उन्होंने वो हनुमान जी से बोला कि भाई बेटा ऐसा नहीं संभव है देखिए अगर किसी से ज्ञान लेना होना तो शिष्य में कैसे गुण होने चाहिए ये हनुमान जी ने बचपन में हम लोगों को दिखाया उन्होंने बोला नहीं बचपन आपकी समस्त व्यस्तताओं के बावजूद हम जो है अपने आप को ढाल लेंगे उस परिस्थिति में लेकिन आप ही से ज्ञान देंगे अब हनुमान जी को सूख नखा थोड़ी है कि राम जी के पास गई बोला भैया we are made for each other आप बड़े सुंदर हम भी बड़ी सुंदर उन्होंने टलका दिया बोला भाई तुम देर हो गई शादी शुदा है तो हमारा भाई जो है वो उसके पास देख लो मटक के चल दी वहां पे वहां गई वहां उन्होंने बोला अरे वो तो राजा है भाई एक शादी नहीं अनेकों हो सकती है फिर वापस आ गए और फिर वो ऐसे दो चार चक्कर काट रही ऐसी व्यभिचारी दृष्टि उसकी हनुमान जी ने निश्चय करा कि यही हमारे व्यस्त हो हमको ढलना है तो ढलेंगे उसमें लेकिन ज्ञान तो जीवन में सूर्य देवता से लेना इससे छोटे गुरु हमको चाहिए तो बोला तुम करोगे क्या हम सतत बिजी है बोलते भगवान अगर आप आज्ञा दे तो आपके रथ में सामने बैठ जाएंगे आपको भी नहीं रोकना पड़ेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप तो रथ बैठे बैठे के रहते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम प्रयास थोड़ी होता है आपके बैठने मात्र से सब कहानी चलती रहती है आप हमको बगैर रुके हुए अगर हम रथ में बैठ जाते हैं तो आप हमको ज्ञान देंगे तो मुस्कुराए बोलते हाँ तो उन्होंने निश्चय करा और सूर्य के रथ के सामने बैठ के भगवान सूर्य देवता से बचपन में सब ज्ञान प्राप्त करा उन्होंने जो एक ब्रह्मचारी को मिलना चाहिए था देखिए हम लोगों का ये चार वर्ण और चार आश्रम की व्यवस्था वैदिक व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है ये वहां पर भी दिखाई पड़ती है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी को कुछ एक ज्ञान का सिलेबस होता है तो ज्यादा नहीं ज्ञान दिया जा सकता है कुछ और ज्यादा जो है एडवांस ज्ञान के लिए गृहस्थी बनना पड़ता है तो जिस समय बेसिक व्याकरण और शास्त्र और सब शब्द और वेद सब बताने से बता दिए लेकिन हनुमान जी बोला भगवान ये तो हो गया लेकिन हमको नव व्याकरण पढ़ना है नौ प्रकार का व्याकरण होता है वो भी पढ़ना है अब हम लोग बोलते हैं ना ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तो ज्ञानियों में अग्र है सब प्रकार का ज्ञान है तो वहां पे जो वो एडवांस ज्ञान आया तो सूर्य देवता ने बोला नहीं बेटा ये तो तुम्हारे कोर्स के बाहर है हाँ, तुम ब्रह्मचारी आदमी जन्म ब्रह्मचारी तो ये तो तुमको मिल ही नहीं सकता बोला नहीं भगवान कोई रास्ता निकालो लेकिन हमको ज्ञान प्राप्त करना है निष्ठावान ज्ञान के लिए समर्पित गुरु के हिसाब से ढाल लिया अपने आप को सब छोड़ छाड़ के रथ में उल्टे बैठे हुए थे सूर्य देवता आगे मुंह करके बैठे तो वो पीछे मुंह करके बैठे हुए थे उनके चल लेकिन क्या रोनी से ब्रास करना है और पढ़ा दिया फिर आगे जब बोला कि ये बेटा ये तुम्हारे नहीं हो सकता शास्त्र का विधान नहीं है जैसे यज्ञ होते हैं ब्रह्मचारी यज्ञ नहीं कर सकता गृहस्थी ही यज्ञ कर सकते हैं सपत्नी के यज्ञ होते हैं देखो पत्नी के साथ ही वैदिक व्यवस्था है तभी आप अनेकों कर्म के अधिकारी होते अनेकों जो है वह विद्या केवल गृहस्थाश्रम में होती सेवा केवल गृहस्थाश्रम में होती कर्म केवल गृहस्थी कर सकता है उपासना विशेष रूप से कोई चीजें होती हैं कर्म के साथ उनको करना होता है वो केवल गृहस्थी कर सकता है और अगर आपको वो करना है तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा तो ये तो बड़ा एक हाँ, फंस गया टेंच फंस गया हाँ। हनुमान जी ने बोला यार एक तरफ से ब्रह्मचारी दूसरी तरफ से ये ज्ञान के अधिकारी नहीं है शास्त्र के जरूरत तो हम ही नहीं जा सकते तो पूरे देवताओं की मीटिंग हुई त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने एक रास्ता बताया और बोला कि देखो ये तो ब्रह्मचारी है लेकिन औपचारिकता से इसका विवाह कर दो और फिर उसके बाद इसका पढ़ा दे तो बोला ये कौन सा रास्ता देखो जैसे वकील होते हैं ना हर जगह से रास्ता निकाल रहे तो वैसे हनुमान जी के ज्ञान की प्राप्ति के लिए एडवांस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सूर्य देवता की किरणों से एक जो है उनकी पुत्री बनाई गई ये पराशर संहिता की कथा बता रहे हैं ये पराशर संहिता में महर्षि पराशर जी ने लिखा हुआ ये सब यद्यपि बहुत प्रचलित नहीं है ये सब आपको बता दे रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए आप हनुमान चालीसा गहराई से पढ़ रहे हो सुन रहे हो ये सब चीजों का पता होना चाहिए तो जो सूर्य देवता की किरणें थी उससे उनके वर्चस्व से उसको किरणों का जो तेज होता है उससे एक कन्या बनाई गई और उसका नाम दिया गया सुवर्चना सुवर्चला उसका नाम लिया गया और उससे उनका विवाह कराया गया सुना कभी हनुमान जी की शादी हुई थी <laughs> हनुमान जी का विवाह कराया गया सूर्य देवता की पुत्री से उन्होंने बोला केवल औपचारिकता है तो ठीक है तुम लोग कर लो हमको तो मोदी जी की तरीके से ग्रस्त आश्रम में तो जाने <laughs> जो भी औपचारिकता करना है कर लो हम्म। तो उन्होंने कर लिया तो उनको बाकी पूरा नव्य व्याकरण का ज्ञान भी दिया गया और जो जो विशेष ज्ञान थे जो केवल गृहस्थी को दिए जाते हैं वो सब उनको प्राप्त हुए उसके बाद वो तो मस्त मोला थे ब्रह्मचारी आदमी थे ज्ञान लेके निकलने लगे सूर्य देवता ने बुलाए गुरु दक्षिणा ज्ञान तो लेके जा रहे हो अगर गुरु दक्षिणा नहीं देते हो तो ज्ञान कभी तुम्हारा नहीं होता है दक्षिणा हमारी वो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होती है गुरु के चरणों में जिसके बाद ज्ञान का अधिकार हमारा हो जाता है नहीं तो ज्ञान हमारा नहीं होता है दक्षिणा दान नहीं होता है देखिए देने के तरीके होते हैं एक होता है दान जो कि असमर्थ को देते हो तीन को देते हो हर व्यक्ति को यज्ञ दान तपह करना ही चाहिए जो भी आपसे कम है किसी क्षेत्र में भी उनको जरूर दान देते हो आपका धन पवित्र हो जाता है ये बहुत आवश्यक होता है लेकिन दक्षिणा दान से बहुत अलग होती है दक्षिणा में भी हम कुछ देते हैं किसी को लेकिन वहां पे आप देखते हैं किसी के अपार कृपा सेवा ज्ञान मिलने के बाद आप धन्य हुए और जिसने आपको निस्वार्थ भाव से कितना कुछ दिया है उसकी सेवा की प्रेरणा होनी चाहिए हम महाराज क्या कर सकते हैं आपके लिए बताइए ये प्राचीन देखिए ज्ञान की परंपराएं ऐसी थी आजकल आधुनिक समय कितना बदल गया है बीच बीच में तुलना करो आजकल ज्ञान के लिए यूनिवर्सिटी जाना है और विदेश जाना है बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए हाँ, सब बाल मरवाने पड़ते हैं सब जो है वह फिक्स डिपॉजिट जो है ना सब तोड़वानी पड़ती है इतना कॉस्टली अफेयर हो गया है पढ़ाना अच्छी तरीके से हम लोगों के इस देश में कभी किसी के लिए ज्ञान के लिए कुछ नहीं होता गरीब हो या अमीर हो महान से महानतम ज्ञान सबको मिलता था और उसके बाद बस उससे बोला दक्षिणा तुमको कुछ देनी है जो गुरु जी बोलते हैं वो देते और वो लोगों की पात्रता अनुसार सामर्थ्य के अनुसार अपनी जो भी है वो बोल देते थे जिससे सबका कल्याण हो हनुमान जी ने ज्ञान तो ले लिया जब जाने लगे तो बोला हाँ बेटा दक्षिणा का टाइम आ गया दक्षिणा क्या दोगे बोला महाराज जी जो आज्ञा आपकी बोला हमारी कन्या को साथ में ले जाओ बोला ये भगवत आपने क्या बोला तुम्हारी पत्नी है चला तुम्हारी पत्नी है तुम्हारी सेवा करेगी बोलते भगवान आप क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो हमको आप खुद जानते हैं कि हमने आज जन्म ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ली है ये तो ठीक थी सब बड़े बड़े देवताओं ने वकीलों ने रास्ता बताया था तो कोई खाना पूर्ति कर ली थी हमने लेकिन अब हमारा आप मृत्यु भंग करते प्रभु बोलते थे स्वर चला तेजस रूपी है ये भी अयोनिज है ये भी एक सामान्य कन्या नहीं है भाई हमारी कन्या के नाम से बोल रहे हैं अन्यथा हमारे तेज को ही तुम कन्या समझो ये तेज तुम्हारी सेवा में सदैव रहेगा और तुम्हारे ही जीवन को और धन्य करेगा सुंदर बनाएगा तुम इसको स्वीकार करो और इससे हमारा वचन है कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य खत्म नहीं होने और यही सेवा करेंगे यही हमारा देखिए दक्षिणा मांगने वाले जो संत लोग हैं गुरु लोग हैं ऐसी चीज मांगते थे कि जिससे हमारा ही हित तो होता है हमारा व्रत नहीं भंग होगा लेकिन हमारा जीवन और धन्य हो जाता है तो ऐसी चीज उन्होंने जो है उनको बोली तो बोला ठीक है प्रभु तो टेक्निकली अब थ्योरिटिकली तो हनुमान जी अकेले घूमते हैं लेकिन टेक्निकली गृहस्थी हो गए अच्छा यही चीज आपको हम एक और चीज बताएं एक जैनी लोग हैं उनकी रामायण अलग है उन्होंने भी एक कथाएं लिखी हुई है पौम चरित्र हम उसको पढ़ रहे थे कि एक जैनी जो है वह महात्मा लोग थे देखिए उसका नाम क्या है आपको बताएं पद्मचरित्र पद्मचरित्र जो है वो एक जैनी वर्जन है रामायण का जो बिमला सूरी नामक उनके विद्वान ने लिखी उसमें सब कथा हनुमान जी की भी आती है उसमें भी उनको बहुत बड़ा ज्ञानी कहा जाता है बड़े विद्वान कहे जाते हैं पहला जो वाक्य है हनुमान चालीसा का वो उनके दृष्टिकोण से भी सार्थक होता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी यही बात बोलते हैं लेकिन वो कहते हैं कि भाई हनुमान जी जो है ना वो उन्होंने तो फुल टाइम गृहस्थी बना दिया उसको और बोला कि इसका विवाह हुआ था और वो एक विद्याधर थे जो कि बड़े अलौकिक सी योनी होती है हनुमान जी वो थे और पवन गति और अंजना सुंदरी उनके माता पिता थे तो इन्होंने अंजना ने उनको जंगल में किसी कारणवशात वो घर से बाहर गई थी एकांत में और वहां उन्होंने उसका जन्म करवाया था उनका जन्म जंगल में हुआ फिर जिस समय वो वापस आ रही थी तो उनके मामा जो है उनको लेके वापस आ रहे थे तो हनुमान जी गिर गए विमान से गिर गए तो जहां पत्थर पे गिरे तो पत्थर टूट गया लेकिन वो छोटा बालक बिल्कुल सही सलामत रहा इतना बलवान वो बचपन से थे और वो आगे बोलते हैं कि इनकी जो है वह विवाह भी हुआ और बल्कि इनका विवाह जो है वो रावण के ये संबंधी बन गए थे रावण की एक पुत्री भी इनको मिली थी अब कहां कहां क्या क्या कहानी है शोध करो तो बिल्कुल ही दिमाग घूम जाता है ऐसी ऐसी चीजें शास्त्रों में है ये ये प्रमाण है हम लोग ये भी नहीं कि हम देखा करते क्योंकि आप कोई कल पूछे कोई आके बोले ऐसा हमने सुना है तो कम से कम जानना अवश्य चाहिए तो ये जो है वह उनकी कहानी जो है जैनी महात्मा लोग ऐसे बताते हैं और उनकी पत्नी के बारे में भी उसी के अंदर सब आता है अनंग कुसुम उनकी पत्नी उन्होंने नाम बताया है अनंग कुसुम जो कि खरदूषण और नखा और रावण की बहन थी उसकी पुत्री थी तो ये हनुमान जी के बारे में ये सब कथाएं आती हैं और कोई लोग तो आगे क्या क्या बोलते हैं हमको बोलना भी नहीं एक ने तो बोला हनुमान जी ने आगे चल के बहुत सारे विवाह करे <laughs> तो यहाँ पे भिन्न भिन्न ऐसे शास्त्र हैं और देखिए जो जैनी जब कई बार कथा लोग होते हैं ना वो लोग ये सब चीजें बताते हैं और इसके अंत में पता क्या है कि राम जी और हनुमान जी वो विमला सूरी जी के महात्मा जी के दृष्टिकोण से बाद में जैनी बन गए थे बोलो वो तो घुमा फिरा के सबको जैनी बना देते तो ठीक है उनकी व्याख्या उनका दृष्टिकोण उनको मुबारक हो हम लोग अपने दृष्टिकोण से हमारे शास्त्र पराशर मुनि जी भी रामायण भी उनका प्रमाण ये है कि निश्चित रूप से हनुमान जी जो एक अभिव्यक्ति थी दिव्य अभिव्यक्ति थी बहुत ज्ञानवान थे आजन्म ब्रह्मचारी थे और टेक्निकलिटी के लिए सूर्य देवता ने अपने तेजस को ही एक कन्या के रूप से बना के उनके साथ विवाह कर दिया था तो उन्होंने जो बताया है वो सुवरचला देवी थी सुवरचला देवी तेजस्वी वही उनका व्यक्तित्व से एक हो गई ये हम लोग इतना स्वीकार करते हैं कि ये सब ज्यादा केवल आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कहीं चक्कर में पड़ जाना कहीं जैनिक महात्माओं के और लगे हाँ महाराज जी हम बन रहे हम भी जैनी बन रहे <laughs> तो ये सब चीजें हैं सब लोगों का अपनी अपनी स्वतंत्रता है बहुत ही महान देश है हम लोगों का अनेकों प्रकार के विचार यहाँ पे रखे गए उन लोगों ने जो है बताया कि हनुमान जी को उनके चाचा जी अपने वहां पे द्वीप था वहां ले गए थे वहां रहते थे वो और उस द्वीप का नाम था हनुरुहा हनुरुहा द्वीप में रहने के कारण इनका नाम हनुमान पड़ गया देखिए हनुमान की एक दूसरी व्याख्या गई हनुमान जी की एक व्याख्या आ गई जिसके थोड़ी जिसकी हनु पे वचन लगा था थोड़ी बड़ी हो गई थी इसीलिए नाम हनुमान हो गया और दूसरे ने हनुरोहा नामक द्वीप में रहने के कारण हनुमान कह रहे तो सब लोग की बातें सुन लो सुनो सबकी करो मन की हाँ, सुन लो सबकी बातें इसका जानना जरूर चाहिए नहीं तो भ्रम पड़ जाता है नहीं तो लोग मोहित कर देते हैं तो ये चीज जो है यहाँ जाके लेकिन एक बात सब लोगों के लिए समान है सब इसको स्वीकार करते हैं कि हनुमान जी का ज्ञान अपरम्पार था बहुत महान ज्ञान था तो ये हनुमान जी की जो कथाएं हैं वो हनुमान नाम कैसे पड़ा है इसकी भी भिन्न भिन्न कथाएं हैं उनके ब्रह्मचर्य के बारे में जो है कोई शास्त्र के प्रमाण है तो भी ब्रह्मचारी देखिए यहां पर इस संदर्भ में हम एक चीज आपको और बता दें हनुमान जी को आज जन्म ब्रह्मचारी हम लोग कहते हैं लेकिन उनके ही गुरुदेव सूर्य देवता ने और जीवन का विशेष ज्ञान लेने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी इससे क्या पता लगता है हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि जो वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है उसका आदर होता है गृहस्थ आश्रम होता है कितना पवित्र शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है आश्रम होता है सूर्य देवता ने हनुमान जी जैसे शिष्य को भी बोला हम आगे का तुमको ज्ञान नहीं देंगे जब तक तुम इसमें प्रवेश नहीं करो कितना आदर है उसका और उसके उपरांत गृहस्थाश्रम के बाद इसी में सेवाएं होती हैं कर्म होते हैं भजन होते हैं पूजन होते हैं संतों की भी सेवा होती है हमको भी अगर दीक्षा विक्षा मिलती है ना तो कोई ना कोई हमारे गृहस्थी शिष्य ही तो है काम धंधा करते हैं नौकरी करते हैं बिजनेस करते हैं और जाके गुरु जी महाराज का सेवा करें हला हाँ, बना दो तो बेटा एक कमरा आजकल बिल बहुत महंगा आ रहा है बिजली का तो बिजली का बिल तुम्हारा पानी का बिल तुम्हारा अब ऐसी तो गाड़ी चलती है आश्रमों की और ये सब गृहस्थी है और जो सभी सन्यासी होते पकड़ की तरह हमारी करे तो कौन हमारा बिल चुका होता सोचने की बात है तो निश्चित रूप से ये गृहस्थी लोग हमारे आश्रम की व्यवस्था की ब्रह्मचारी को भिक्षा देते हैं गृहस्थी लोग सन्यासी लोगों को भिक्षा देते हैं गृहस्थी लोग अब इस चक्कर में गृहस्थी तो बोलते हैं महाराज जी गृहस्थी सन्यासी से भी बड़ा हमला ये भोगट की बातें मत करो ये बड़ा छोटे वाला का चक्कर जब करोगे तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी <laughs> बड़ा बड़ा ये कहो ना इसका अपना महत्व है उसके दूसरा महत्व है ब्रह्मचर्य के बगैर ग्रस्त में नहीं जाना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने से पहले जने वो होता है लड़कियों को भी धारण करोगे तो ही जाओगे अब हमने तो एक जगह देखा किसी की शादी में गए थे बगैर जने के वो शादी होने वाली है बोला पंडित जी ये कैसे कर रहे हो उसने गुरु जी आधे घंटे पहले निपटा देंगे आधे घंटे पहले जिन्हें हो जाएगा और फिर उसके बाद वो शादी हो जाएगी बोला जिने में तो मुंडन कराते कराएगा ये ये तो पार्लर में अपने बाल ठीक करवा के आया है और उस तो बोले थोड़े से नाम के काट देना बाल हाँ। बगैर ब्रह्मचर्य के ग्रस्त में जाएंगे शरीर को बढ़िया बनाओ बुद्धि को बढ़िया बनाओ ज्ञानवान हो कर्तव्यों को जानो ईश्वर को जानो जिनकी सेवा के लिए जीवन समर्पित होना है जिस अग्नि देवता की परिक्रमा करके सप्तपदी बोलते हो सात वादे लेते हो वो किसको साक्षी बना के ले रहे हो सब ज्ञान होना चाहिए ना तब गृहस्थी में प्रवेश होता है और गृहस्थ आश्रम जो है वह केवल दूसरा आश्रम ये भूलना मत उसके बाद प्लानिंग करते रहना आगे वाला आश्रम भी तुम्हारा ही होना है वाहन नमृत्ति भी होना है एक दिन और एक दिन सन्यासी भी होना है अगर वही ऋषियों का खून है तुम्हारे अंदर वही तुम्हारे संस्कार हैं तो ऐसा कंप्लीट जीवन जीना चाहिए यही व्यवस्था के अंतर्गत जो है उनको टेक्निकल प्रॉब्लम उठाया गया था और वो शादी ब्याह का वो सब काम निपटाया जा गया हाँ? आजकल का जो है ना वर्ण आश्रम की व्यवस्था तुलना करें एक वर्ण और एक आश्रम बन गया है एक वर्ण ये हो गया कि सब पैसे के पीछे पड़े तो धर्म वैश्य बन गए सब क्या कर रहे हो हर चीज ये धंधा कर रहे हैं वो धंधा कर रहे हैं सभी लोग पैसे के पीछे पड़ गया अगर पैसे को ही अपना जीवन बनाते हो तो भविष्य बन के जी रहे हो ज्ञान को अपना लक्ष्य बनाओ तो ब्राह्मण होकर जीते हो धर्म के संस्थापना के लिए पालन के लिए जियो तो तुम क्षत्रिय होते हो और अगर धन दौलत बिजनेस व्यापार करते हो तो वैश्य होते हो और अगर ये तीनों प्रेरणाएं नहीं है केवल सेवा धर्म का पालन करते हो तो शुद्ध कहलाते हो और वो भी बहुत बड़ा योगदान करता है वो हम लोगों की व्यवस्था का अंग होता है अनेकों जगह जो है वहां बाकी सब हो लेकिन कोई सेवक ना हो तो गाड़ी चलेगी क्या हाँ? महाराष्ट्र में थोड़े दिन पहले वो जो सब हाँ, अपना मानो सपना मानो चक्कर चल रहा है ना महाराष्ट्र की मानुष तो वहां से बिहार यूपी के सब लोग भागने लगे भगाने लगे वो लोग राज ठाकरे पार्टी हम्म? सब फैक्ट्रियां बंद होने लगी काम धंधे बंद होने लगे पंजाब से निकलने लगे तो किसान ही वहां पे खेती खराब होने लगी बगैर लेबर के सेवक के कौन काम हो सकता है हम जब भी कोई बाहर शहरों वहरों में जाते हैं ना तो जाके भोजन भिक्षा किसी न किसी घर में होती है क्योंकि हम रहते ही जाके किसी के घर में एक दिन इस भक्त के वहां खा लिया एक दिन उस भक्त के वहां खा लिया एक बार मई के आसपास का विक्रम था बंबई में कोई बुलाई नहीं रहा था रिक्शा के लिए बुलाया नहीं तो बड़ा रहा हो गया हमने पूछा कोई हमारे बड़े निकट के बारे में बोला क्या बात हो गई इस बार आपने कोई डेट वेट नहीं ली कस बुलाना है गुरु जी को उस दिन स्वामी जी बहुत सॉरी इस बार हम भुलाई नहीं पा रहे हमारी बहुत इच्छा थी लेकिन भुलाई नहीं पा रहे तो बोला क्यों प्रॉब्लम क्या होती बाई नहीं है तो बाई नहीं है अब वो बाई नहीं है तो दुनिया भर का करोड़ों का फ्लैट होता है एक एक फ्लैट वहां एक करोड़ पांच करोड़ से तो कम फ्लैट नहीं बिकते चार गाड़ियां दुनिया भर की व्यवस्था लेकिन घर पूरा ठप्प है हमारे गुरु जी आए हैं भोजन नहीं खिला सकते उनको ऐसी दुर्दशा है क्यों बली अब समझते हैं ना शूद्र का कितना महत्व है सेवकों का कितना महत्व है कोई गाड़ी नहीं चल सकती आप वेदों का पुरुष सूक्त देखिए उसमें बोलते हैं कि एक विराट पुरुष की तरीके से परमात्मा को देखें तो ब्राह्मण अगर सर है क्षत्रिय बाहु है वैश्य उनके जागे हैं और चरण शुद्ध हो गए चल ही नहीं सकते हो बगैर पैरों के ये महत्व होता है शूद्रों का इसीलिए अगली बात से अपने भाई का जरा ध्यान रखना चाहो <laughs> अपने जो सेवक है तुम्हारी दुकान में फैक्ट्री में वेदों का दर्शन है कि इनका भी उचित आदर करो इनका महत्व समझ भगवान ने ठीक है उनके पास पुराने जन्म के कर्म और प्रकृति नहीं है नहीं ज्यादा अक्ल है लेकिन इनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता है तो ये सब व्यवस्था चार वर्ण चार आश्रम धीमे धीमे चार आश्रम में अध्ययन करो सेवा करो उसके उपरांत एकांत में रहो थोड़ी देर तपस्वी तरह से करो और फिर अंत तो शरीर छोड़ने से पहले पूरे संसार को छोड़ो मनी मन जिसको उसने संन्यास न यहाँ के संसार के भोग है ना रिश्ते हैं ना नाते हैं छोड़ के जाओ और जैसे जैसे अपने मन को हम इनसे मुक्त करते हैं हम भी मुक्त होते हैं और सही बात है दूसरे भी मुक्त होते हैं नहीं तो सदैव सर के ऊपर किसी के बैठे रहो विकास कुंठित करते हो दूसरे का तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था है कि गृहस्थ आश्रम के बाद वान प्रस्थ में जाना चाहिए एक दिन देखिए रामायण में भी आता है ना एक दिन महाराज दशरथ बैठे हुए थे सभा में और उन्होंने देखा हमारे कान के पास के बाल थोड़े सफेद हो गए शीशा वहां रखा हुआ था उन्होंने देखा और एकदम सचेत हो गए अपने मंत्रियों को बुलाया और कि देखो कुछ हमको विशेष बात करनी है हमको संकेत मिल गया उस समय बाल जल्दी सफेद नहीं होते थे उस समय पचास के आसपास ही बाल सफेद होते थे अभी तो पच्चीस साल हुए कि बाल सफेद पता नहीं कैसा सब पोल्यूटेड तेल और खाना पीना सब हो जाता है बाल सफेद क्या होते हैं बाल झड़ी जाते हैं जल्दी से आजकल तो मुसीबत हो तो रही है दुनिया भर की ये सब हमारे जो है रहन सहन खान पीन के दोष का लक्षण होता है तुम्हारा दशरथ ने देखा कि कान के बाल सफेद हैं उन्होंने बोला भाई हमारे मन में विचार हो रहा है अब वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए सब भरा पूरा राज्य है अपनी खुद सेवा करी है दिलोजान से सेवा करी है लेकिन अब हमको जीवन में दूसरे पुरुषार्थ भी होते हैं अब हमको जो है अपने बच्चे को वो भी भगवान की कृपा से समर्थ हो गया है तो आप लोगों का क्या विचार है सबने बोला महाराज जी आपकी शिक्षा आपके संस्कार और आपका जो बालक है बहुत समर्थ हो गया है आपकी भी इच्छा है तो हम लोग भी इसको स्वीकार करते हैं और वो ही वो उनके राज्यसभा में चर्चा थी कि उन्होंने रात ही रात राम जी को बुलाया बोला बेटा तुमको कल ही हम जो है उसी दिन की घटना थी राज्य की लेकिन हाँ कुछ होनी और होनी थी राम जी की जरूरत थी वनवास में जंगल में अनेकों मुनियों का भी कल्याण करना था रावण का भी जो है वह विनाश करना था तो कोई ना कोई देवताओं ने षड्यंत्र रचा और क्या से क्या हो गया लेकिन वो चीज देखो महाराज दशरथ ने थोड़े से जो है वह देखा बोला देखो एक समय होता है कर्म में भी अधिकारित्व होता है पात्रता होती है मेहनत के लिए जो है वह समाज में सेवा बहुत मेहनत की जरूरत होती है ऊर्जा चाहिए समय चाहिए जूझना पड़ता है संघर्ष करना पड़ता है कंपटीशन होता है और ये यंग ब्लड को ही होना चाहिए उनको कायदे से मार्ग निर्देशन दो और शीघ्र ही व्यवस्था करके मुक्त हो जाओ ये अवश्य करना चाहिए हर व्यक्ति को अब आजकल बाल बाल जब सफेद होने लगते हैं तो फिर गोदरेज वाले आते हैं बोलते अमोनिया भी नहीं है इस डाइट में अमोनिया भी नहीं है तुम्हारी स्किन भी खराब नहीं होगी और कर लो सफेद तो फिर जो है काले कर अब ये चीज ठीक है हमको जो है कभी किसी के जल्दी हो गए कोई रोग हो गया तो कर लो भैया लेकिन जहां तक हो सके ये आर्टिफिशियल चीज मत लगाना स्किन कैंसर हो जाता है कल मरने वाले हो गए तो बोलो काल करे सो आज कर विनाश होता है नुकसान होता है जो चीज भी है अभी हम पढ़ रहे थे वो डायबिटिक लोग जो है ना आजकल वो आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं ना उसके बारे में लिखाया कि मत डाला करो कैंसर हो रहा है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर स्प्लेंडा वेंडा क्या क्या चीजें निकली हुई है हमने भी पहले खूब खाया पता ही नहीं था ज्ञान से आदमी करता है फिर हमको एक किसी डॉक्टर सज्जन ने भक्त ने लेख भेजा बोला गुरु जी मत बिल्कुल नहीं छोड़ बड़ा विनाश कर देता है तो ये जो भी चीजें होती हैं आर्टिफिशियल अरे जो हो सो हो ना सफेद हो गए तो हो गए क्यों चिंता करते हो ज्यादा अपना नुकसान क्यों करते हो और कैंसर अगर स्किन में हो जाता है तो इलाज ही नहीं होता खत्म हो जाता इतना विनाश होता और हम जिम्मेदार होते हैं इसीलिए वैसे तो शास्त्र तो ये बोलते हैं कि जब सफेद होने लगे ना तो समझ लो कि मानव बस्ती में जाने का टाइम आ रहा है लेकिन अगर तुम्हारे किसी कारणवशात अभी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है कुछ और भी लक्षण होते हैं तो उम्र का तकाजा नहीं है एक सज्जन हमसे बोलते हैं कि महाराज जी पच्चीस साल ब्रह्मचर्य पचास साल तक जो है वो गृहस्थी पचहत्तर तक जो है पचास में वाहन वानप्रस्थ में प्रवेश कर जाऊंगा और पचहत्तर में सन्यासी होगा चार है ना पच्चीस पच्चीस पच्चीस पच्चीस सौ साल पूरे ऐसा नहीं है भैया ये पच्चीस का वहां पे साल का कोई लेना देना नहीं है लक्षण कुछ और होते ब्रह्मचर्य में कोई ज्ञान प्राप्त होता है तब तक तो ब्रह्मचर्य में रहना गृहस्थ में कुछ कर्म पूरे होते हैं और कर्म से हनुमान चालीसा की पहली चौपाई याद रखो दोहा मन मुकुर सुधार मन रूपी शीशा जब तक साफ ना हो तब तक कर्म कोई सेवा करनी पड़ती है और उसके बाद जहां पे मन भी सुंदर बनने लगा विरक्त बनने लगा मस्त बनने लगा प्रसन्न होने लगा गुणों से युक्त होने लगा भक्ति का प्रसाद मिल गया अब जो है ग्रेजुएट हो दूसरे क्लास वो वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में कोशिश तो यही करो कि सब जिम्मेदारी बच्चों को सब अगर मजबूरियां हैं तो अलग चीजें हैं सभी लोगों को अलग बात होती है लेकिन जहां तक संभव हो सौंप के एकांत में रहो प्रसन्न रहो और कुछ और बहुत महान लक्ष्य होता है पैसे से भी ज्यादा महान होता है और मनुष्य जीवन उसके लिए मिलता है ईश्वर जो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं उनका दर्शन होता है उनसे एकता होती है वो आनंद के रहा असली आनंद उनके पास से आता है तो उधर प्रवृत्ति होने का अनुभव होती है तो वो करना होता है और उसके उपरांत वानप्रस्थ के बाद ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब कर्मों को किनारे करके कुछ जानना तो ये चार आश्रम की व्यवस्था है और इस आश्रम की मर्यादा आदर सब लोग करते हैं वेदों में एक वाक्य है अब आप हमसे पूछोगे गुरु जी आप बड़ी बड़ी बातें बोले शादी करी क्या अल्लाह ने बेटा हमने जन्म करी क्यों नहीं गई चार आश्रम की बातें बताने वाले दुहाई करने वाले आपको क्यों नहीं थे तो बोला देखो यही बात शंकराचार्य जी है आठ साल के थे तो अपने गुरु जी गोविंद भगवत पाद उनका नाम था तो उनका जन्म तो केरला में हुआ था और वो नर्मदा तट पे थे वहां से केवल इतना एड्रेस मिला था कि नर्मदा तट पे एक बहुत ही बड़े ज्ञानी रहते हैं अब उस टाइम और एड्रेस क्या देगा एड्रेस ये था नर्मदा तीर अब जहाँ घूमो यार नर्मदा जाके पूरी परिक्रमा करो जाके वहां पे कौन गोविंद तो तो पाद राम गुरु जी उनके पास आए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा और उन्होंने भी उनको प्रमाणित करा कि शास्त्र के अनुसार वान प्रस्थाश्रम में भी जो गुण चाहिए वो बेटा तुम्हारे पूर्व जन्म के वजह से आ चुके हैं वो जो वाक्य होता है वेदों का वाक्य है यद अहर एवं विरजे तद अहर एवं प्रव्रजे अगर वैराग्य की कसौटी होती है वैराग्य अगर पूरा मन के अंदर आ गया है तो तुम संन्यास प्रारंभ भी दे सकते लेकिन ये बहुत विशेष लोग होते हैं सबको धीमे धीमे मन को विरक्त करना असंग प्रसन्न धन्य मस्त अपने अंदर करने की यात्रा अपने प्रयासों से सत्कर्मों से सत्संग से भजन से अनुष्ठानों से धीमे धीरे करनी होती है तो इसीलिए ऐसा कोई 25 साल का भी तगाजा नहीं है लेकिन वो कुछ विशेष गुण होते हैं तो ये चार वर्ण चार आश्रम हनुमान जी जैसे जो कि आजन्म ब्रह्मचारी थे उनको भी वो टेक्निकलिटी पूरी करनी पड़ी तब जाके उनको ज्ञान मिला कुछ अनुभूतियां होती हैं जो आदमी जब तक कर्म के क्षेत्र में नहीं जाता है तब तक नहीं होता है तो इस चीज को हम लोग के मनीषी ने स्वीकारा हमारा कुल चले समाज चले अच्छे मनुष्य बने सेवाएं हों ये सब चीजों के लिए ऐसी आवश्यकता होती है तो हनुमान जी को जो है वो ज्ञान दिया गया और वो धीरे धीरे पूरे ज्ञान के भी बने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती दो का उजागर दूसरी जो है लाइन वो आती है कि जय कपी केहू लोग को उजागर हे कपियों के ईश कपियों के श्रेष्ठ कपियों के राजा कपि अर्थात वानर हे वानरों में सर्वश्रेष्ठ बल्कि आम उनको तो राजा बुलाते हैं कपीश तीनों लोगों को उजागर आज से तो पूरा तीन लोक प्रकाशित हो रहा है सूर्य देवता तो इस चीज को मानेंगे बोलते हमारे शिष्य है और हमारी पुत्री सुवर चला हाँ, वो तो इनको ऐसी कांति प्रदान कर रही है हमारे आशीर्वाद है वो किरणें वो प्रकाश वही हमारी कन्या है वही हमारे ज्ञान की राशि है संतान है सदैव ऐसे तेजस्वी रहेंगे कि तीनों लोगों को प्रकाशित करें तीनों लोगों को हो जाए तो ये यहां पर कथा इसकी भी अलग आती है अब यहाँ पे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कपीश कैसे हनुमान जी को बोल दिया भैया सुग्री सुनेंगे तो उनका को घूम जाएगा बोलते महाराज जी चक्कर क्या है इनको गाली में तो बैठाने का विचार है क्या कपीश तो हम हाँ है वाली कपीश थे और फिर उसके बाद वो वाली और सुग्रीव का पूरा संग्राम हुआ और बाद में भगवान ने उनको से सुग्रीव को कपीश बनाया गोस्वामी जी तो सबको बाईपास कर रहे जय कपीश तीनों लोग हो जाए कपियों श्रेष्ठ कपियों के राजा कैसे हो गए महाराज जी अब आप एक महीने के लिए इस पहेली का चिंतन करना हाँ? अगले महीने समय हो गया है नहीं तो हम इसको और आगे ले जाते अब ये प्रसंग हम लोग थे अपने और तीनों लोगों से हनुमान जी तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं बहुत ही गूढ़ वचन है ये महत्वपूर्ण वचन है न सोचो तो जल्दी से पाठ करके निपटा लो और सोचो तो अनेकों रत्न मिलेंगे इसमें अनेकों रहस्य मिलेंगे तो वो जो है उसको फिर आप लोग अगली बार विचार करेंगे श्री राम जय राम जय